Oh. जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है यदि किसी मांसाहारी पशु को शाकाहार खिलाया जाए तो क्या वह व्यक्ति किसी जीव की रक्षार्थ पुण्य का भागी होगा मांसाहारी पशु को शाकाहारी बना दिया तो कुछ प्राणी बच गए बच गए कुछ प्राणियों को उसने मरने से बचा दिया तो क्या वो रक्षार्थ पुण्य का भागी होगा तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि प्रकृति ने और ईश्वर ने उसको वैसा ही बनाया है उस प्राणी को मांसाहारी बनाया है तो प्रकृति ने ईश्वर ने वैसा ही बनाया है तो इन्होंने आगे और लिखा है इन ये मान करके कि उत्तर ये दिया जाएगा कि पुण्य का भागी होगा पर वो उत्तर तो आया नहीं है तो इन्होंने कहा किंतु वह व्यक्ति ईश्वरीय व्यवस्था भंग कर रहा होता है अर्थात पुण्य का भागी तो आप कह दोगे लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था भंग कर रहा होता है तो ईश्वरीय व्यवस्था को भंग नहीं करना है प्रकृति से ईश्वरीय व्यवस्था से जो जैसा है वो वैसा भोजन लेता है जो दोनों ले सकता है वहां आप उसको दोनों दे सकते हैं वो एक अलग बात है लेकिन जो मांसाहारी प्राणी है वो यथावत जैसा लेता है वैसा लेगा हाँ यदि आप यही प्रश्न मनुष्य के बारे में करते हैं कि जो मांसाहारी मनुष्य हैं उनको यदि हम शाकाहारी बना देते हैं तो ये पुण्य का कार्य है ये किया जा सकता है ठीक है दूसरा प्रश्न है कुछ इसी तरह का कोई मांसाहारी जीव किसी जीव को हमारे सामने मार रहा हो मार रहा हो मतलब अपने खाने के लिए मार रहा हो अपने खाने के लिए ही मारते हैं तो क्या उसे बचाना चाहिए यदि बचाते हैं तो हम दूसरे जीव का भोजन हरण कर रहे होते हैं वैसे बचाना चाहिए बचाना मरने से बचाना किसी को ये हम पुण्य मानते हैं ठीक है तो जब एक मांसाहारी प्राणी दूसरे जीव को मार रहा है खाने के लिए तो उसे बचाना भी क्या पुण्य या परोपकार माना जाएगा तो वो नहीं हमें नहीं बचाना चाहिए उसको वहां भी वही उत्तर है प्रकृति से ईश्वर से ऐसी ही व्यवस्था है उसका वो भोजन है वो उसको खा रहा है हम हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसको वहां पर रोकें या बचाएं तो दूसरे जीव के भोजन का हम हरण नहीं कर रहे हैं जब हम बचा नहीं रहे हैं तो दूसरे के किसी के भोजन का हरण नहीं कर रहे हैं और वो अपने स्वाभाविक भोजन को ग्रहण कर रहा है ये बात हम अपने पालतू पशुओं के बारे में तो फिर भी लगा सकते हैं जिन पशुओं को हम पालते हैं गाय घोड़ा बकरी भैंस कुत्ता अन्य पक्षी जो हमारे पालतू जानवर हैं उनको यदि कोई बाहर का हिंसक पशु आके खाने का प्रयास करता है वहां हम बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए लेकिन उसके बचाने में कोई पुण्य आदि की बात नहीं है उसमें पुण्य की बात नहीं है हम अपने पशुओं को अपने हित के लिए बचाते हैं इतना ही है और अगर दूसरा पशु आके उसको मार लेता है तो हमने चूंकि उसकी सुरक्षा और रक्षा नहीं की उसकी हमारे को हानि होगी उसमें कोई पाप वाली बात भी नहीं है दूसरा हिंसक पशु अगर ले लेता है उसको उसको भी कोई पाप नहीं लगेगा और हमारी हानि होगी इतना मात्र है हमने सुरक्षा व्यवस्था नहीं की इतना मात्र दोष है ठीक हो गया इसमें किसी को पूछना है कुछ हाँ कृष्ण मुनि जी कृष्ण मुनि जी हाँ तो तो तो अच्छा हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं करना चाहिए यदि बिल्ली ने कबूतर को पकड़ लिया और वो खा रही है हमारे को रोकने का कोई अधिकार नहीं है ये जो कबूतर खाना बना हुआ है जहां कबूतरों के लिए दाने डाले जाते हैं और यहाँ प्राय आसपास में ऐसे ही बने हुए हैं कि वहां चढ़ने की जो सीढ़ियां हैं वो दूर रखी गई हैं ताकि बिल्ली उस स्थान पर ना जा सके वो हमें करना चाहिए कबूतर अपने प्रयास से जब अन्न दान दाना चुग रहा है कहीं और फिर कोई बिल्ली पकड़ती है कोई बात नहीं है हमने वहां पर दाने डाले एक व्यवस्था हमने बनाई तो अब हमारा उनकी रक्षा का कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसा रच ऐसी रचना न कर दें कि वहां बिल्लियां आने लगे और हम तो उनके हित के लिए कर रहे हैं अन्नदान और वो उनके लिए हानिकारक हो जाए ऐसे में चूंकि हमारा हस्तक्षेप है बीच में हमारी व्यवस्था है तो हमें तो यही व्यवस्था करनी चाहिए कि बिल्ली वहां ना जा सके हाँ, अन्यत्र बिल्ली उनको पकड़ती है वो उसकी स्वतंत्रता है हम उसको हमें उसको नहीं बचाना चाहिए कहीं भी हो कई बार हमारे मन में ये बातें आती हैं क्योंकि हम दूसरे को मरते हुए हिंसित होते हुए नहीं देखना चाहते हमें अच्छा नहीं लगता है कबूतर एक जंगली प्राणी है बिल्ली भी अपना जीवन जी रही है और उसने अगर पकड़ लिया कुत्ते ने अगर पकड़ लिया तो प्राय धर्मात्मा व्यक्ति उसको बचाने के लिए प्रवृत्त होते हैं ये मान के कि किसी जीव की रक्षा हम कर रहे हैं कोई मनुष्य मार रहा हो और हम उससे उसको बचाएं वहां पर ठीक है हम बचा सकते हैं रोक सकते हैं मनुष्य को वो भी कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन हम भी उसे बचाने में स्वतंत्र हैं क्योंकि मनुष्य का वो भोजन नहीं है जो प्रकृतितः ईश्वर की व्यवस्था से है उसमें हम हस्तक्षेप करें ये उचित नहीं है पर धार्मिक व्यक्तियों के मन में प्राय ये भाव आ जाता है और मारने वाले को हम गलत समझते हैं देखो तो कितनी दुष्ट बिल्ली है कितना दुष्ट कुत्ता है इत्यादि छिपकलियां खा, खा जाती हैं कीड़ों को तितलियों को अन्य भी खाते रहते हैं हमें यू लगता है देखो कितने क्रूर है ये तो हम उनके प्रति गलत भाव भी बना लेते हैं वो भी ठीक नहीं है उनका स्वाभाविक भोजन है वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति भी गलत भाव नहीं बने और जो मर रहे हैं उनके प्रति हमारा ये दया का भाव कि हम उसको बचाएं वो भी कोई आवश्यक नहीं है ये जो प्राणी मारे जाते हैं परस्पर खा लिए जाते हैं ये परमात्मा की व्यवस्था से चलते रहते हैं इनके कर्माशय क्षीण होते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार वो विभिन्न शरीरों में हैं बहुत से कर्मों का फल उनको भोगना है दुख के रूप में यदि वहां किसी के द्वारा दुख होता है उनको उतना उसका कर्माशय कम हो जाएगा उसमें कोई हानि वैसी नहीं है न्याय व्यवस्था ईश्वर की बनी हुई है ईश्वर की व्यवस्था में ये एक दूसरे के द्वारा खाए जा रहे हैं एक दूसरे को कष्ट हो रहा है तो वहां पर कर्मफल व्यवस्था भी चल रही है कर्माशय उनका उसी तरह से क्षीण भी हो रहा है न्याय व्यवस्था भी वहां पर बनी हुई है इससे किसी प्रकार की उनको हानि नहीं है न तो मारने वाले को और न मरने वाले को कर्माशय अनुसार वो सब चलता रहेगा न्याय होता रहेगा मनुष्य यदि कोई मार रहा है उनको तो हम रोक सकते हैं क्योंकि मनुष्य ऐसा करते हुए पाप कर्म का भागी बन रहा है हम उसको रोक रहे हैं उसको अन्याय करने से रोक रहे हैं बाकी जो पशु एक दूसरे को खा रहे हैं वहां तो अन्याय नहीं हो रहा है उसे अन्याय नहीं कहते हैं अन्याय हो रहा हो तब हम उसको रोकें पर हमारी धार्मिकता ऐसी बन जाती है हम अहिंसक ऐसे होते हैं हमारे सिद्धांत ऐसे बन जाते हैं कि इन स्थितियों को देख करके या तो हम बचाने के लिए दौड़ेंगे या मारने वाले के प्रति गलत भाव ले आएंगे या हमारा मन खिन्न हो जाता है कि देखो इसको इसको मार दिया हम खिन्न हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं ये दुखी भी नहीं होना चाहिए ये भी कमजोरी का लक्षण है ठीक है वहां चल रहा है चल रहा है हम इतनी शिक्षा ले सकते हैं कि देखो इन विभिन्न योनियों में कैसे कैसे होता है सीख ले सकते हैं अपने उसके अनुसार अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं लेकिन ऐसा भयभीत होना या कातर होना खिन्न होना इसकी कोई वहां पर आवश्यकता या बात नहीं है उसको तटस्थ भाव से हमें ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसे वैसा ही लेना चाहिए हाँ, और कौन पूछ रहे थे सत्यरज मनुष्य को बचाना चाहिए मनुष्य को बचाना चाहिए वो हमारा कर्तव्य है जैसे पालतू पशुओं को बच, बचाना चाहिए वो हमारा कर्तव्य है मनुष्यों को भी बचाना चाहिए मनुष्य उनका भोजन नहीं है पर कभी ऐसा होता है ऐसी परिस्थितियां भी तो भी वो खा सकते हैं मनुष्य को भी

जिन्होंने काटा था वो तो नहीं मरे लेकिन चार पांच मरे और दस पंद्रह कौए में इस प्रकार लगेगा बिल्कुल लगेगा इनका प्रश्न ये है कि कुछ कुत्तों ने एक किसान के बछड़े को काट लिया और कुछ दिनों बाद में वो मर गया तो वैसे तो किसान को अपनी रक्षा करनी चाहिए थी बछड़े की नहीं हो पाई और उसने काट लिया तो उन कुत्तों के प्रति कोई क्रोध वो नहीं आना चाहिए था उसको हो गया ठीक है हमारी असावधानी से हो गया शेर हमारी बकरी को उठा के ले गया तो ले गया इसमें शेर के प्रति कोई क्रोध है उस तरह की बात नहीं इसी तरह कुत्तों के प्रति अब उसने बदला लेने के लिए उस बछड़े पे विष डाल दिया दवाई डाल दी और उस बछड़े को कुत्तों ने खा लिया दूसरे कुत्तों ने दूसरे कुत्तों ने खा लिया कुछ पक्षियों ने कौओं ने खा लिया वो मर गए तो बिल्कुल पाप लगेगा ये गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए और वो मर भी चुका है तो उसको तो वैसे ही इन पशुओं के लिए दे देना चाहिए या तो और कुछ कर सकते हैं जमीन में गाड़ सकते हैं नहीं तो पशुओं के लिए दे सकते हैं उनका भोजन है मर तो गया ही है वो अगला प्रश्न सत्यात प्रकाश पढ़ने से अनेक व्यक्तियों के जीवन सुधरे और भी जो श्रेष्ठ पुस्तकें हैं उन पर भी हम ये लगा सकते हैं उनसे अनेक व्यक्तियों के जीवन सुधरते हैं उनमें उन्नति होती है और दूसरी तीसरी चौथी और आगे की पीढ़ियों के भी बीसियों पचासों सैकड़ों जीवन सुधरते चले जाएंगे हजारों लाखों भी हो सकते हैं आगे आगे की पीढ़ियों वाले उससे सुधरते जाते हैं क्या परमेश्वर दूसरी तीसरी आदि पीढ़ियों के कर्म फल भी महर्षि दयानंद को देंगे या नहीं यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हां तो किस रूप में व कितने अंश में तो सत्यात प्रकाश चूंकि महर्षि दयानंद ने लिखा है इसलिए उनका नाम आया बाकी इस तरह के जो भी परोपकार के कार्य होते हैं वहां सब जगह ये प्रश्न उठ सकता है और ये उपलक्षण से मान सकते हैं तो पहली पीढ़ी पर तो इनको प्रश्न नहीं है लेकिन दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी पे है उसका कारण क्या इनके मन में है कि प्रश्नकर्ता के मन में है कि पहली पीढ़ी को किया वो तो उसने साक्षात किया महर्षि दयानंद ने सत्या प्रकाश लिखा और उस समय के जिन लोगों ने पढ़ा पहली पीढ़ी वालों ने उनके लिए तो महर्षि दयानंद ने साक्षात पुरुषार्थ किया इसलिए वहां यदि अधिक व्यक्ति पढ़ते हैं तो महर्षि दयानंद को अधिक पुण्य होगा ये मान के चल रहे हैं पर वहां जो संख्या बढ़ रही है पहली पीढ़ी की उसमें इन्होंने प्रश्न नहीं किया है यद्यपि प्रश्न वहां पर भी हो सकता है और अभी उस पर नहीं जाते हैं प्रश्नकर्ता के मन में वहां प्रश्न नहीं है अभी कह रहे दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी जहां की लेखक का साक्षात संबंध नहीं है लेखक ने साक्षात उनके लिए कुछ नहीं किया है तब भी क्या पुण्य मिलेगा प्राय तो अजीवित अवस्था में इनका अभिप्राय उस तरह होना चाहिए क्योंकि दूसरी तीसरी पीढ़ी की दृष्टि का ये बात कह रहे हैं जिसने भी कर्म किया है वो कर्म जैसा जितना किया जिस गुणवत्ता वाला और जिस मात्रा में किया जिस स्तर का किया उसका जितना पुण्य होगा वो उसको उसी समय उसका आकलन शुरू में ही हो जाता है उसका लाभ कितनी पीढ़ियों तक चला इस पर लेखक का या पुण्यकर्ता का पुण्य नहीं गिनना चाहिए इस प्रश्न के पीछे पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की कि जितने अधिक व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ेंगे लाभान्वित होंगे उतना अधिक पुण्य लेखक को मिलना चाहिए जैसे कि आजकल पुस्तकें छपती हैं बिकती हैं तो लेखक को भी उसका एक अंश मिलता है छापने वाले को मिलता है बेचने वाले को मिलता है और बहुतों को मिल, मिलता है लेकिन जो लेखक होता है उसको भी आता रहता है उसका पारिश्रमिक अधिक बिकती है तो अधिक आता है उसको रॉयल्टी बोलते हैं तो कुछ वो भाव रखते हुए ये प्रश्न है कि अगली पीढ़ियों को भी सत्या प्रकाश का लाभ मिल रहा है तो पुण्य बनता जाएगा बनता जाएगा और कितना बनना चाहिए ये भी आगे की बात है तो इस विषय में तो मेरी समझ ये बनी है कि वो नहीं मिलना चाहिए इसे थोड़ा सा और समझते हैं पहली पीढ़ी में ही ले लें किसी व्यक्ति ने पुस्तक लिखी उसने लिखी अब अन्य व्यक्तियों तक उस पुस्तक का पहुंचना पुस्तकों का छपना पुस्तकों का पहुंचाया जाना वो किसने किया क्या लेखक ही कर रहा है ये लेखक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी उस कार्य में जुड़े हुए रहते हैं उस पुस्तक के प्रकाशन का जो धन देते हैं वितरण में जो लगते हैं एक एक व्यक्ति को जाके बांटते हैं इत्यादि बहुत सारा श्रम वहां पर जुड़ा रहता है तो जिन अन्य व्यक्तियों ने श्रम किया था उसका पुण्य उनको मिलेगा लेखक ने यह पुण्य नहीं किया था लेखक का जो पुण्य हुआ जिस स्तर का काम किया वैसे स्तर का पुण्य उसका बन जाएगा इसको उल्टा करके देखिए कि किसी पुस्तक को बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया किसी लेखक ने अच्छे स्तर की थी लेकिन कुछ सत्य भी बातें थी लेकिन समाज ऐसा है कि उसने उसको प्रसारित नहीं होने दिया उसको प्रतिबंधित कर दिया या प्रसारित नहीं किया या बहुत कम प्रसारित हुई वो पुस्तक तो उसे लेखक के पुरुषार्थ में तो न्यूनता नहीं कही जा सकती उसका तो पुरुषार्थ अच्छा ही था तो उसको उतना पुण्य मिलेगा और दूसरा विपरीत उदाहरण कि जिसने पुस्तक लिखी अन्य सहयोगी मिले और उन लोगों ने उस पुस्तक को बहुत फैला दिया बहुत छापा अच्छा छापा लोगों तक पहुंचाया निशुल्क बांट दिया लोगों को बहुतों को लाभ हुआ तो ये जो संख्या की वृद्धि है ये लेखक के कारण से नहीं ये अन्य व्यक्तियों के कारण से है उसका पुण्य अन्यों को मिलेगा इसी तरह से दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में भी जो पुस्तक चलती चली जा रही है उसका कारण वो लेखक नहीं है लेखक प्रसारित नहीं कर रहा है लेखक ने तो जैसा लिखा वैसा लिख दिया अब अन्य पीढ़ियां अन्य लोग उसको छाप रहे हैं प्रसारित कर रहे हैं तो अन्यों के किए हुए कर्म का फल लेखक को नहीं मिलेगा इस दृष्टि से हमें ये समझना चाहिए अन्य भी हमारे बहुत से परोपकार होते हैं जिनका कितना प्रभाव कितनी दूर तक जा रहा है यदि लेखक की गुणवत्ता के कारण से पुस्तक अधिक लोगों तक पहुंच रही है अधिक लाभ हो रहा है उसका तो पुण्य लेखक को अधिक लगेगा उसने ऐसी बात लिखी इस तरीके से लिखी अधिक उपयोगी बात लिखी ये जो गुणवत्ता की अधिकता है लेखक की इस गुणवत्ता के कारण से वो पुस्तक अधिक जा रही है अधिक पीढ़ियों तक जा रही है अधिक लोगों तक जा रही है तो ये गुणवत्ता अधिक होने के कारण से उसको अधिक पुण्य मिलेगा यहां तक तो बात ठीक है लेकिन उसी गुणवत्ता वाले को उसी मात्रा में लिखे हुए लेख को पुस्तकों को अन्य लोग बढ़ा देते हैं अपने पुरुषार्थ से तो वो पुण्य लेखक को नहीं आना चाहिए जिसने किया है उसी को मिलना चाहिए ये इसके अंदर समझ में आता है तो नहीं मिलेगा यदि नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा ये कारण आ गया और यदि हाँ तो किस रूप में वह कितने अंशों में ये कहना हमारे लिए मुश्किल है इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो इसको और थोड़ा सा अगर हम विस्तार कर दें कि अनेक व्यक्तियों को सत्यार्थ प्रकाश से लाभ हुआ किसी को कम हुआ किसी को अधिक हुआ तो जिनको सत्यार्थ प्रकाश से कम लाभ हुआ तो क्या उसका पुण्य कम मिलना चाहिए लेखक को और यदि किसी ने उस पुस्तक से अधिक लाभ ले लिया तो क्या लेखक को अधिक पुण्य मिलना चाहिए ये बात सत्संगों में भी ले सकते हैं प्रवचन में कक्षाओं में क्या कक्षा के अंदर प्रवचन में बैठे हुए बहुत से व्यक्तियों में किसी ने अधिक लाभ ले लिया तो क्या वक्ता को अधिक पुण्य मिलेगा किसी ने कम लाभ लिया तो क्या वक्ता को कम पुण्य मिलेगा वक्ता ने क्या बात कही लेखक ने क्या बात कही अध्यापक ने क्या पढ़ाया उसके ऊपर ये निर्भर करता है हाँ ये अंतर अवश्य पड़ेगा कि उस श्रोता कौन है उसके लिए यदि अतिरिक्त परिश्रम किया गया अच्छे श्रोता हैं अच्छे विद्यार्थी हैं और उनको अधिक लाभ हो रहा है तो ये पढ़ाने का अतिरिक्त लाभ नहीं है ये व्यवस्था द्वारा अच्छे लोगों को उपस्थित करना इसमें जो श्रम हुआ यो योजना बनी उसके कारण से है और सरल उदाहरण ले लें कि किसी व्यक्ति ने पांच व्यक्तियों को भोजन कराया भोजन एक जैसा कराया अब एक व्यक्ति ने खाना खाया और खाना खा करके कुछ अच्छे कार्य किए तो उसका पुण्य इसको नहीं मिलेगा एक व्यक्ति खा करके सोया रहा तो इसको कोई पुण्य ना मिले ऐसी भी कोई बात नहीं है किसी ने भोजन लिया और उसको पेट दर्द हो गया उसी भोजन से किसी को उल्टी हो गई उल्टी कर दी उसने भोजन कराने वाले ने भोजन दिया सबको पांचों को एक ने खूब चबा चबा करके खाया अच्छा पाचन हुआ अच्छा शोषण हुआ शरीर अच्छा बना बल मिला दूसरे ने जल्दी जल्दी खाया चबाया नहीं अच्छी तरह तो अधिक अच्छा पाचन नहीं हुआ अच्छा लाभ नहीं मिला पोषण नहीं मिला और अधिकांश भोजन मल में बिना पचा ही निकल गया ये जो उनको अलग अलग लाभ हो रहा है क्या इससे दानदाता के पुण्य में न्यूनता या अधिकता होगी क्या ये न्याय संगत है दानदाता ने जो दान दिया जो भोजन दिया जितनी मात्रा का जिस स्तर का जिस गुणवत्ता का भोजन दिया उसके अनुसार इसका पुण्य बनना है किसने कम चबाया किसने अधिक चबाया किसने उसके बाद में क्या किया किसको उल्टी हो गई और कौन आलस्य में पड़ा रहा और किसने मेहनत की किसने परोपकार किया उसका इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसी तरह से लेखक ने पुस्तक लिखी बट गई हो गई जितना उसने पुरुषार्थ किया उतना पुण्य मिलेगा किसी ने कम समझा किसी ने उसको उल्टा समझ लिया किसी ने अधिक समझा इसका कम या अधिक पुण्य उस व्यक्ति को लेखक को नहीं होना चाहिए लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि लोगों में जि, जिस पुस्तक का अधिक प्रभाव होता है उसका पुण्य लेखक को नहीं मिलता मिलता है कब जब लेखक की पुस्तक की गुणवत्ता ऐसी अधिक है जिसके कारण अधिक लोग पढ़ रहे हैं या अधिक लाभान्वित हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है ना कि अन्यों के प्रयास के ऊपर तो इस विषय में और किन्हीं को पूछना हो तो पूछे इनका प्रश्न है कि लेखक ने तो अच्छी गुणवत्ता की पुस्तक लिख दी लेकिन किसी कारण से लोगों तक वो पुस्तक नहीं पहुंची तो उसको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलना चाहिए मिलेगा बटने का कारण प्रयास जिसका है उसको उसका पुण्य मिलेगा और किसी बाधा के कारण नहीं हो पाई इसने तो जितना प्रयास करना था किया जितना प्रयास किया उस, उतना उसको पुण्य मिल जाएगा और कोई सुकामा जी हम्म। इनका प्रश्न है कि कई अच्छी पुस्तकों पर प्रतिबंध लग जाता है तो उसका पाप प्रतिबंध लगाने वाले को मिलेगा जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है उससे उन्होंने समाज की हानि की है अच्छी के लिए अच्छे को रोक दिया उन्होंने उसका पाप उनको लगेगा लेकिन अभी हमारा प्रश्न क्या है जिस लेखक ने पुस्तक लिखी क्या उसके पुण्य में कमी आ जाएगी इससे एक ऐसे देश में लिखी गई जहां प्रतिबंध नहीं है और वो लोगों को लाभ मिला एक ऐसे देश में लिखी गई जहां उस पर प्रतिबंध है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो लोगों को लाभ नहीं मिला इससे लेखक के पुण्य में कमी नहीं आनी चाहिए जिन्होंने प्रतिबंध लगाया उनको पाप लगेगा अच्छी पुस्तक के लिए अच्छी पुस्तक के लिए प्रतिबंध लगाया उनको पाप लगेगा ऐसा तो ठीक है इतना ही रखते हैं फिर आज मंत्र पाठ